रहे वो लोग जिन्होंने बुराइयां कमाई हैं तो उनकी बुराई का बदला उसी जैसा बुरा होगा और उन पर जिल्लत छाई हुई होगी अल्लाह के अजाब से उन्हें कोई बचाने वाला नहीं होगा ऐसा लगेगा जैसे उनके चेहरों पर अंधेरी रात की तहें चढ़ा दी गई हों वो दोजख के बासी हैं वो उसमें हमेशा रहेंगे